शायद फरमाया कि जब मस्तूरात से गुज़र हो निगाह को नीची रखे आप तो भाई निगाह क्या घर से बाहर निकलो बस मस्तूरात हैं घर से इंसान बाहर निकले बस औरतें हैं लेडीज़ है मस्तूरात लेडीज़ को कहते हैं निगाहें नीची रखे खा कितनी कितना ही नफ्स का तकाजा हो देखने का अगर निगाह उठ जाए फ़ौर निगाह को नीचे कर ले खा कितनी ही करानी हो चाहे दम निकल जाए मगर निगाह दोबारा ना उठाए हाँ एक बार तो माफ़ है दोबारा माफ़ नहीं है अरे यहाँ भाई बहुत से लोग कहते हैं हम जरा तो निगाह पाक निगाह डालते हैं निगाह भी कहीं पाक होती है हैं क्या हजरत अली से पाक हो जाएगा तो हजू ने है अली एक निगाह तो माफ़ है लेकिन दूसरी माफ़ नहीं तो हजरत अली को तो हजूर ये फरमाए और हम कहते हैं नहीं हम पाक निगाह डालते हैं तो हम तो बहन बना लेते हैं तब देखते हैं बहन बनाने बन जाती है तो कहता आप तो बेटी बना लेते तब देखते हैं बेटी बना बन जाती है बेटी बना तो एक रोज़ बेटी बनाया करो भाई हाँ, तो बेटी बनाने बन जाती है शरीयत ने जिसको बेटी कह दिया और बेटी है जिसको बहन कह बहन कह दिया उसके अलावा बनाने से नहीं बनती दम निकल जाए मगर निगाह दोबारा ना उठाए अगर हिम्मत कर लेगा तो इन मार्फत का जाम अता हो जाएगा हजरत खाया साहब फरमाते हैं दीन का देख है ख़तर उठने न पाए हाँ नज़र दिन का देख है खतर उठने न पाए हाँ नजर कुए बुता में तू अगर जाए तो सर झुकाए जा